आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक radio station radio Madhuban radio Madhuban point four F M सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे radio Madhuban point four F M जी हाँ तरंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है कल सेकेंड राउंड का पहला पार्ट आप सुन रहे थे तो आइए आगे बढ़ते हैं सेकेंड राउंड का दूसरा भाग अभी आप सुनेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सुंदर radio ninety point four F M तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं सेकंड राउंड में बच्चे आर्डिकता इंस्टीट्यूशन के आ रहे हैं और इंटर कॉलेज सिंगिंग कंपटीशन के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुँचा रहे हैं तो आइए एक विद्यार्थी हमारे बीच में नमस्कार आपका नाम चौधरी रतन सिंह सर चौधरी रतन सिंह चलिए सुनते हैं आप अपना परफॉर्म कीजिए दो गाने ओके सर थैंक यू शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें देन दाता मन का विश्वास कमजोर होना दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे अरे बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भरी जिंदगी रे तेरे होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना मन का विश्वास कमजोर हो ना ओके okay, एक और गीत आप सुनाइए ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी बिछा दी संगीर पकड़ कर माता सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर ओके ओके चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया पूरा नाम क्या बताया चौधरी चौधरी रतन सिंह की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिख के चौधरी रतन सिंह लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तरंग इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच आएंगे और परफॉर्मेंस हमें सुनाएंगे थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को जी हाँ आर्डिकता इंस्टीट्यूशन के जो विशेष इंजीनियरिंग के बच्चे हैं हमारे बीच में आ रहे हैं कहते हैं शाम सूरज को ढलना सिखाती है क्षमा परवाने को जलना सिखाती है गिरने वालों को होती तो है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में एक और विद्यार्थी हमारे बीच में नमस्कार आपका नाम ज्योति ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस सेकेंड राउंड में और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग परफॉर्म करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हौसला भी बढ़ जाता है और आप अच्छे परफॉर्म करने लगते हैं तो ज्योति हमें दो गीत आपको सुनाने बिल्कुल एक स्टांजा एक मुकड़ा ठीक है कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके ये हौसला कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन हाँ ये दिल तो क्या राहों पे काटे बिखरे गए उस पे तो फिर भी चलना ही है शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक ढलना ही है रुते टल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी सुबह फिर आएगी हो ये हौसला कैसे झुके आरज़ू कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन्हाई दिल तो क्या ज्योति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक और गीत आप सुनाइएगा जल्दी से एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा ईश्वर या अल्लाह धन्यवाद ज्योति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम ज्योति की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मैसेज कर सकते हैं अपने नाम और ज्योति टाइप करके आप सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग inter school competition inter college के बच्चों का कंपटीशन है और बच्चे अपने अपने परफॉर्मेंस को हमारे बीच में रख रहे हैं दो गाने उन्हें सुनाने हैं और कितना अच्छा कौन सुनाता है हम देख रहे हैं और जो आवाज़ आपको पसंद आती है उसके लिए ज़रूर आप चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर वोट कर सकते हैं आप सुन रहे हैं radio Madhuban ninety point four F M सुनते रहो मुस्कराते रहो हेलो नमस्कार हाँ नाम बताइए आप बसरा प्रीतम है क्या नाम है आपका प्रीतम बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको दो गाने सुनाने हैं ठीक है ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दिन दुखी सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा प्यार के मोती लुटाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो आशा टूटी ममता रूठी छूट गया है किनारा बंद करो मत द्वार दया का दे दो तो सहारा दीप दया का जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रीतम एक और गीत मन नो मोरलियो रटे तारू नाम मन नो मोरलियो रटे तारू नाम मारी झुपड़िए आओ मारा राम एक बार आवी पूरो हैया केरी हाँ एक बार आवी पूरो हैया के केरी हाँ मारी झुपड़िए आवो मारा राम सूरज उगे ने मारी उगती रे आसा संध्या ढगले ने माने મળતી નિરાશા રાત દિવસ મને સૂજે નહીં કામ રાત દિવસ મને સૂજે નહીં કામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ મનનો અલીઓ રટે તારું નામ મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ ओके प्रीतम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम चलिए दोस्तों प्रीतम की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने नाम के साथ में प्रीतम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इंटर कॉलेज सिंगिंग कंपटीशन का ये दूसरा राउंड आप सुन रहे हैं आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे और भी विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं जिनको हम अभी सुनेंगे जी जी हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जैसे कि कहते हैं कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है नमस्कार आपका नाम हाँ, मेरा नाम महला रीना है रीना रीना बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कॉम्पिटिशन में सेकंड राउंड में तो आपको दो गाने सुनाने हैं बैक टू बैक ठीक है तेरी बना हमें हमें ചൊല്ലി बेमानी और हिंसा से हमें को बचाना नाली का बन जाओ न पानी नाली का बन जाओ न पानी निर्मल गंगा जल ही बहाना हो अपनी रीना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है और उसके पहले आपको रीना की आवाज़ अगर अच्छी लगी हो तो उनके लिए वोट कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर रखा क्या है तेरी आँख के सिवा दुनिया में रखा क्या है ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आंखों के सिवा दो रखा क्या है पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए क्या है जमाने की तस्वीर है काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है ओ, दिन में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है क्या है रखा क्या है हेलो नमस्कार क्या नाम है आपका नीतीश हाँ नितेश थोड़ा पीछे बैठे हाँ ठीक है नितेश आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दो गाने गाइए आप स्टार्ट कीजिए तेरा करे मातू मेरा घर मातू तेरा सब कुछ मेरे मेरा सब कुछ तू हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे दिल दिया है जा भी वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ये वतन तेरे लिए तू मेरा करे माँ तू मेरा डरे माँ तू मेरा अभिमान है हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे वतन तेरे लिए नितेश नितेश दूसरा गाना गाइए મારી વિનંતી તું છે મારા જીવનમાં તારો આધાર છે ઓ શરણે આવ્યો છું પરમાત્મા મારી લાજ પ્રભુજી તારા હાથ છે મારી રાજા પ્રભુજી તારા હાથ છે જન્મ જન્મથી ભટકી રહ્યો છું સાચો કિનારો મને નથી મળતો હો શરણે આવ્યો છું પરમાત્મા मारे ना जा प्रभु जी तारा हाथ छे मारे ना जा प्रभु जी तारा हाथ ओके नितेश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबा 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को नितिन की आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने नाम के साथ में नितिन टाइप करके आप मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इंटर स्कूल का कंपटीशन और एक से बढ़कर एक आवाज़ आपके बीच में आ रही है तो हम अभी आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है नमस्कार हाँ आपका नाम दृष्टि दृष्टि आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम सेकेंड राउंड में तरंग में तो चलिए गाइए राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोनिक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोनिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन तन पायो जी दूसरा गाना गाइए दृष्टि ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बा तू ही मेरी जा ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे पिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बा तुझ पे दिल कुर्बा तेरे दामन से जाए उन हवाओं को सलाम दामन जाए उन हवाओं को सलाम मैं उस को जिस पे आए तेरा नाम तुझ पे तुझ पे ओके दृष्टि बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम दृष्टि की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना नाम लिखिए दृष्टि लिखिए और सेंड कीजिए आप सुन रहे हैं रेडियो मोट वन एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है क्या नाम है आपका नमस्कार प्रजापति हर्ष हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष तरंग कार्यक्रम में सेकेंड राउंड में तो आइए आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से जी बल के देख लीजिए को करीब से के नसीब में ये बात हो न हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना हो लग जाग के फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर से मुलाकात हो ना हो हर्ष एक और गाना दीदी नाल किया लेख ललाटे साचा थाय थाय थाय दीदी नाल किया लेख ललाटे साचा थाय थाय थाय श्रवण कावड़ लईने भर तो सेवा मात पिता तो श्रवण गावड लई दे तो सेवा मात पिता कर तो तीर्थे तीर्थे डगला तो चाल जाय जाय जाय विधि नाल किया लेख ललाटे साचा थाय थाय सेवा मात पितानी करवा श्रवण चालो पाणी भरवा सेवा मात पितानी करवा श्रवण चालो पाणी भरवा गडूलो भरता मृगला जेवा सब थाय थाय थाय विधि नाल किया लेग ललाटे साचा थाय थाय थाय ओके हर्ष बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम हर्ष की आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपना नाम के साथ हर्ष लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इंटर कॉलेज सिंगिंग कंपटीशन जी हाँ आइए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार आपका नाम वागेला जिग्ञा वागेला जिग्ञा जिग्ञा बहुत बहुत स्वागत है आपका और आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनाने वाले हैं बनाने मनाओ कोई मथुरा मजाओ ओ जी कना कनाने कना ने मनाओ कोई मथुरा मजाओ धब जी कना ने मनावो ओके नमस्कार नमस्कार जी जिग्ना एक और गीत आप सुनाइए हियाजी गगन थी चंदन डोराई रे सैर मनिया सोना बन कारा था कोई चांदली न चमका था लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को और वाघेला जिग्ना की आवाज अगर आपको पसंद है तो उनका नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है और बात करते हैं उनसे हेलो नमस्कार आपका नाम क्या है मेरा नाम सतीश सतीश सतीश बहुत बहुत स्वागत है आपका तो चलिए सतीश सुनाइए श्याम तुझे मिलने का सतसंगी बहाना है श्याम तुझे मिलने का सतसंगी बहाना है कहा कहा ढूंढू तुझका कहा कह पाया है मेरा श्याम तुझे मिलने का सतसंगी बहाना है मथुरा में ढूंढू को यमुना में पाया है हर सागर की लहरों में मेरे श्याम को टिकाना है श्याम तुझे मिलने का सतसंगी बहाना है सूरज में ढूंढू तुझको चंद्र में पाया है हर तारों के टीम टीम में मेरे श्याम को टिकाना है श्याम तुझे मिलाने का सत्संगी बहाना है कहाँ कहाँ ढूंढू तुझको कहाँ कहाँ पाया है रामायण में ढूंढू तुझको महाभारत में पाया है हर गीता के पन्नों में मेरे श्याम को टिकाना है श्याम तुझे मिलने का सत्संगी बहाना है सतीश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक और गीत सुनाइए મનમાં સુમલ કાય રોજ તારી ઓછી થા તારા કરમતને ભૂગવવા પડશે મનમાં સુમલ કાય રોજ તારી આવરદા ઓછી થા તારા કરમતને ભૂગવવા પડશે પાછળથી પડતા રોજ તારી આવરદા ઓછી થા અંતિમ વેળાએ તારા શ્વાસ રેલમાં છે જીવ લડોયા તેમ બહુ રે ભૂજા છે वेदना उदाय रोज तारिया वरदा ऊंची हे मन रोज तारिया ओके सतीश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम अभी आप सुन रहे थे सतीश सतीश की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप अपना नाम सतीश लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुने हैं radio Madhuban ninety point four F पर तरंग इस कार्यक्रम को चलिए बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज़ें आप तक आ रही हैं और मैं चाहूंगा कि आप उन अच्छी आवाज़ों को तवज्जो दें और मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है नमस्कार आपका नाम प्रवीण क्या नाम है आपका प्रवीणा प्रवीणा बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दो गाने आपको सुनाने हैं एक अंतरा एक मुकड़ा करके छोटा छोटा ठीक है पड़ जाती है आशीष लेकर नीचे आती है स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है प्रभु हमारे कितने महान देखो हमसे करते हैं प्यार प्रभु हमारे कितने महान देखो हमसे करते हैं प्यार स्तुति आराधना God बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीणा बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया भजन सुनाया है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट चलिए दोस्तों प्रवीणा की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर आपको मैसेज करना है अपने नाम के साथ में प्रवीणा लिख के भेज देना है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुना है radio Madhuban ninety point four F M चलिए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं अर्डेक्ता इंस्टीट्यूशन के बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंस हम सभी को सुना रहे हैं तो चलिए एक और विद्यार्थी हेलो नमस्कार आपका नाम हाय सर हाँ सचिन सर सचिन सिंह जी सचिन जी स्वा, स्वागत है आपका और चलिए आगे बढ़ते हैं और सचिन हमारे बीच में है जिन्होंने पहले भी परफॉर्म किया था अभी भी परफॉर्म करेंगे जो गीत आपको बैक टू बैक छोटा छोटा सुनाना है जी, जी सर छोटा एक सर ये मुखड़ा गा रहा हूँ मैं एम एच साई देवा साई भगवान का ठीक है ठीक है सर चालू करूँ जी मेरे साई देवा तेरे सब नाम लेवा तेरा घर जानते हैं तुझे सब पहचानते हैं चले आते हैं दौड़े जो किस्मत है फोड़े तू हर राही की मंजिल तू हर कश्ती का साहिल जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला गम की रातें रातें ये काली दिन को बना दे ईद और दिवाली शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवाली सर एक पंजाबी का मुकड़ा है आ, हम्म। <clears throat> उसमें अरदास की जाती है इसको जैसे हाँ। सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी बाबा छोड़ नहीं डोर मैं कट्टी जावांगी कि सतगुरु मैं तेरी पतंग धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सचिन बहुत ही अच्छा लगा आपने दो गाने गाए बैक टू बैक अच्छा लगा आप सुन रहे हैं रेडियो पॉइंट फोर एफ चलिए दोस्तों आपको सचिन की आवाज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने नाम के साथ में सचिन लिख के भेज दे चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर inter college singing competition art एक्टा इंस्टीट्यूशन के बच्चों को आप अभी सुन रहे थे सेकेंड राउंड में तो चलिए दोस्तों आप जितना वोट करेंगे और उस हिसाब से हम लोग चयन करेंगे थर्ड राउंड फाइनल राउंड के लिए बच्चे आगे बढ़ेंगे तो आज के लिए बस इतना ही सेकेंड राउंड यहीं पर ख़त्म होता है देखते हैं थर्ड राउंड में कौन बच्चे सिलेक्ट होते हैं फाइनल के लिए आप सुना है radio Madhuban ninety point four F सुनते रहो मुस्कराते रहो की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो के हम अमीर हैं माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी जले बहार के लिए वो जिंदगी किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार जीना इसी का नाम है रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हम ही से नाम प्यार का रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हम ही से नाम प्यार का के मर के भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कराहटों पे हो निशान किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है